कोन का नारे जो सोन कर नारे तव्हांजी कीरा कीराम तव्हांजी कीरा घोड़ी मोरा से काटा घोड़ी का गलाम बांध लाख लाख का दिए सुहा लाख का पायरा मोरों के अपराध चांदी की खुदा नाना जो जो होने की दाग लगा बमड़ी संगार जो घर भोज की मारा उसकी घोड़ी संगारो बोल ली और दादा को कड़ियार भरो नेवा को भरो नौल को जो भरे नाना सा चौबीस की बेटा पकड़ा बताऊंगा घोड़ा का श्रृंगार करके और त्याग किया थे बहुत की देवी हो जाकर बताओ घोड़ा का श्रृंगार हो गया तो आता अपना मर्दा का भी श्रृंगार कर लो तो पट में ढाल ले ली तलवार सूतलाल गुलाल बड़ा फिर लिया कड़ी पदार्थ का තාරාක් නිතුෂන බාන්දිපා සුනක් පුරලා යති දේව ලපදල ධනිතවා හාතම නිලතර අන්තරක සිරියසියන් तो भला भी क्षमा ठमसो इसमें दाम गड़ा बनागा चमकता जा रहा थे ये की लोकल का और तो इसी की शकल का कोई यूं नहीं बताओ कोई दूसरा बाप तो इसी बगड़ा होते राजा भाग जी का धर भरंगा पाई नाम पद अच्छा इसी बेटा बगड़ा होता स्वार हाँ ओके और भरा कदार खजगी जी तो कहीं राण में लाबा के वहां चला गया चौबीस मेगा बड़ा फौजी डेग बोला देखो सुनना का नारेल और चांदी की राखी आपकी राणा जी के वास्ते ले लीजियो मलमल की जरी की पहाड़ी तो राणा जी ने अपना पागड़ी बंद भाई लो जरूर नहीं बनाऊंगा तो कहीं चौबीस बेटा बुढ़ा तो राण में घोड़ा में डकाना है हाँ, कहीं राण में जावा डाना ये साल घोड़ा जावे से नहाने ये सोया सजाया तेन जिगते छड़ी असमा गोली थारी बाज गई रे बड़े जनाना है जहानी बोला जाना बड़े जनाना है नाचती रहा मैं गोरी थारी गारी रे नाचती है 我要回来。 आती जा रही है जो इस बेटा उन्होंने गड़बड़ दी जा रही पौड़ी घोड़ी बहुत बहुत की नाच दी जा रही है हे मना तो तालता तालता करीब लग जो राम आदि राम का बाद में अंधेरा बाहर में भोज जी ने मेरो डाल दे रहे हो बताओ थोड़ी सी बात कि बाहर में आपने जो आराम कर लिया और राणा जी का महल में खबर पहुंचा देना जो राणो जी दी आपने मिलवा के वास्ता तो ये बात हाँ, तो बाद में तो बेटा मखाता हो तो रही और राणा जी की न तू मादल खोज राणा जी की खोज सज खरी और क्या हुई थी कि एक बार जोधगिरी को बात हो वो मैं भूलो छोड़ देख है वो राणा जी का संसार मेरे खाना में लाग रहा है सलीम दादा ये राणा जी हल्का अपराध दे रहा जी आपका बूंदगिरी का बाढ़ में एक भूलो सूर से जोरदार थे जिन लाखा लाखा को नुकसान वो बाढ़ में कर दिए तो या राणा जी ने सुन बात राणा जी की नोटों का तरफ खोज जीरण करा दी सब तरफ घोड़ा की खोज की नींद परिहार के राणा जी के भाई छोटा भाई को नाम तो नींद परिहार नाव से दो और राणा जी को दुर्जन साल नाव से दो राणा दुर्जन साल राम जी देख बोलिए होगी जगत की बात हर बात सभा को नुकसान दिया सूर्य कर दियो तो आप ध्रुव जी सूर खां के सामने चाहिए तो राणा जी के नौ बच्चे तो नाग राणा जी नौ उसको बदल खोज चढ़ के प्यार सूर को राणा जी का दो रोज सूर को जो थे तो कहीं देखा भूरिया सूर के चारों तरफ राणा जी ने बाढ़ के घेरो लगा और थाम थाम जो राणा जी की खोज ने में का रोक लिया थे और कहीं भूरिया सूर के कहीं दूध गिरी का बाढ़ में भगावे और हाँ, राणा जी की खोज जो सूर बारे किलो बार के राणा जी की खोज जी फाटो करियो तो सीना तो माल को सूर सठी राणा जी की खोज में अगूरो पड़ जावे तो अगूरो तो गया बाजार छाट जाए आप थोड़ो पड़ जावे तो आप थोड़ो तो गया बाजार छाट जावे राणा जी की खोज तो कहीं जगह सूर्या सूर से खेल करे थे कहीं तो इस बेटा बघरा होता में बाघ में जाकर बता रहा से कहीं नींद आ रही थी Thank you. Bye. सूर को रहा महा को बोलो सूर को विनोद है जो शील्डिंग ऑफ दुमादल फोर्स सूर के फाते पड़ेंगे बंदूक छुरी गनाचा तलवारियां का खेल हो जाते पर सूर के एक भी चोट नहीं खावे और सूर जिती पड़े ने जटी का लाख लोग का जो नाश कर सकते जाए पर सूर के एक चोट भी नहीं लागे तो इस बेटा पकड़ाओ जी काबला जी अपन दम दूँ मेरा फरहाद की नींद जाती बैठ कर खाई तो नौ तुमादल खोज पाते पड़े थे को आज दादा भाई राणा जी की दादा लाख में का नुकसान भी ने कर दिया हर राणा जी की नोट टमाटर कोई काम नहीं कोई नहीं सूरी चोट में खा तो दादा भाई जगत की बात होगी और इसी तुमने भाई लोग बना बात चलाए थे दादा दुनिया खलासी बार बार जब आंखें का कोई लाल पड़ गया नेवाजी की मुझ जो फट फट फट जो रोशनी मारी खड़क रही दादा भाई मन तो खंजन ज्ञान में तो गड़गड़ और खड़क खड़क नीचे नेवाजी को खंजर पड़ गई ನೀವು ಸದಾ बहुत खंजर में और फांसी भी में माँ से मिले सारी की बात में क्या है और जो दादा भाई बना क्या दे दे तो दादा भाई जाता जाता ही राणा के खोज आगे बढ़े अक्रूरजं विघटनग्रहे तो मेवाजी का शरीर में तामस मावे क्यों वो तो काला नाच में पड़ खबा लाज जो दोषी लो सरदार तो सारी आपने बात होताई और और ध्वज को फल को भील दो वो ध्वज बोले बोले तो मेवाजी भारी रीस ने थोड़ी फांसी मार दे आपन गए तो उसने भाई विचारों करवाया था यो रण को राज दुर्योधन साथ नींद पंजार के सत्तर फांसी खोज दी दादा भाई रजपूतांच्या मुलाला आणि ते आपण सकार मारल्या आणि संस्कृतांची आया तो कभी मत जाओ तो ये वो सलाद कहता है झक पड़े बोले के लड़ा अज्ञा दोनों देने जाते बहुत ही देर बोले के लड़ा ये वो सलाद कोई बावलो नहीं जो सुन लड़ा भाई कभी भी तू सुर मारवा मत जाओ कर ही लगा इतना इतना थारी अज्ञा बना कभी भी नहीं जाओ तो पर आज तो मैं थारी जीवन अज्ञा चूर मार वाटवा से तो तुलसी भागो पर हुई मानी बोले क्यों नहीं बताई तू उससे मछली जी मुझे पैर पर घोड़ा नोल का पे मैं तो हाथ में सवा मन की साथ पग में ढाल तलवार लेके और सीना था घोड़ा पे बैठ कर और साइड का घोड़ा के ये गो है और साइड का नई तू माधव तोड़ सुजी भूया तू ने फटावे और साइड का फटार फटार तोड़ दे मार ले Thank you.